था तो कुत्ता रोटी लेके जा रहा था नामदेव ने कहा प्रभु काला कुत्ता है तो कृष्ण भी काले तो कृष्ण ही है काला होके आया ठहर में तेरे को घी लगा के दू था कुत्ता लेकिन नामदेव की दृढ़ भावना से निकल आया परमात्मा एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेके जा रहे थे सेतुमन रामेश्वर चढ़ाने को और राजस्थान में गधा तड़फ रहा था था तो गधा लेकिन गधे की गहराई में तो तू ही है ले प्रभु जी रामेश्वर में तुझे पानी पिलाऊं यहाँ तू प्यासा मर रहा है इधर ही थी मेरे प्रभु निकल आया शिव था तो बिहारी गरीब फुटपाथ पे सड़क पे पड़ा था बेहोश मैं शिव जी को जल चढ़ाने जा रहा था दूध और जल उसी को पिला दिया तो था तो गरीब बिहारी भाभी का दुत्कारा हुआ कुलियों का मारा पीटा हुआ बेहोश अब मैंने उसको क्या था तो गरीब बिहारी लेकिन निकल आया शिव मेरा इष्ट देव है तो सांप लेकिन प्रेम से निकल आया आनंद तो चाहे सृष्टि कैसी भी हो लेकिन उसकी गहराई में परमात्मा ही है तो दुश्मन को नहीं देखो दुश्मन की गहराई किसकी सत्ता से है मित्र को मत देखो मित्र की गहराई में कौन है ये रंग बेरंगी रूप कौन दिखाता है स्वप्न में और जागृत में रंग बेरंगी शब्द रूप रस कौन दिखाता है किसकी लीला है जिसकी लीला है वो मेरा है मैं उसका हूं ओम आनंद ये ध्यान का बाप हो जाएगा आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी वाह तेरी लीला एक गडरिया था अनपढ़ था गोरखनाथ ने कहा बोले बाबा मेरे उद्धार का रास्ता में अनपढ़ गंवार अरे बोले देख हरे हरे पत्ते खाती है और भेड़ दूध देती है सफेद उसका बच्चे की आंखों में देख कौन देख रहा है वाह तेरी लीला इतना ही तो करना इतना करते करते वो सिद्ध पुरुष हो गया वाह प्रभु वाह आनंद दाता तेरी लीला वाह तो राजा को स्वप्न आया मंत्री को बोला कि अल्लाह ताला ने स्वप्न दिया कि अपना खजाना छलो छल करो मंत्री ने बोला ये अल्लाह का स्वप्न नहीं आपकी वासना की प्रेरणा है तो राजा को अच्छा नहीं लगा मंत्री को धक्का मार के निकाल दिया वो मंत्री घूमता घामता वहां गडरिया के पास अरे बोले राजा ने धक्का मार के निकाल दिया वह प्रभु तेरी लीला और <laughs> तो तुमने उनको बताया स्वप्न तुम्हारी वासना का है वो चिड़ गया मंत्री देखता कि तो गडरिया और मेरे और राजा की बात कैसे जानता है हर बोले तुम्हारी गहराई जो कुछ हुआ तुम्हारा अंतरात्मा जानता है तो तुम्हारा अंतरात्मा वही वाह प्रभु है ना वही यहाँ भी तो जानता है ना जाके मंत्री ने बता दिया राजा को कि तुम्हारे हमारा व्यवहार वो गडरिया ने जान लिया तो राजा आते ही उस गडरिया का दर्शन करते ही राजा के विचार बदल गए सज्जन होंगे तो इसीलिए बोलते साध जना मिल हर जस गाई संतों के दर्शन सत्संग वचनों से न जाने कब कौन सा शब्द लग जाए जीवन बदल जाता है इसलिए बोलते प्रथमा भक्ति संतन कर संगा भक्ति का पहला सिद्धांत संतों का संग भगवान की कथा सत्संग मिलता रहे अमेरिका के वाइब्रेशन बहुत लो है बहुत लो है तो तो तो आएगा ही वापस लेकिन मैं कभी जाता ही नहीं मेरे को सौ करोड़ का ऑफर किया बापूजी इस बार आओ सौ करोड़ अर्पण करेंगे मैंने मन तो बना लिया था जाने का जब सौ करोड़ बोले तो मैं क्या अब नहीं आऊंगा जाओ एक तो वैसे ही लो वाइब्रेशन फिर सौ करोड़ की वहां संपत्ति संभालो उनके रियल इस्टेट है फलाना है ढींगना है बाल बच्चा नहीं है तो मेरे सिर पे बोझा मैं क्या नहीं तो। साधक तड़पते लेकिन मेरे को तो घाटा होता है ना उधर उधर आदमी गोरा हो जाता है फैटी हो जाता है लेकिन नस नाड़ी कमजोर हो जाती लीकेज प्रॉब्लम उधर बहुत है सेक्स वाइब्रेशन लीकेज प्रॉब्लम और मनी मनी मनी और मेरे मन में भी थोड़ा ऐसे ही हो गया था क्योंकि वहीं रहना हो उसी के एसी की हवा में उन्हीं के वाइब्रेशन में तो फिर मैंने बोला टिकट ले आओ जल्दी बोले को, कोई गलती हो गई तुम्हारी गलती नहीं हो गई मैंने वाइब्रेशन यहाँ के एक बार मैं अफ्रीका से यूरोप आ रहा था तो रात भर की फ्लाइट थी तो काले गोरे फू फू वही हवा इतना गंदा लगा कि मैं भगवान को बोला अब दोबारा इधर नहीं भेजना इस देशों में भगवान ने मेरी बात स्वीकार कर ली मैं मन बनाता भी हूँ लेकिन एंड मौके पे भगवान मेरे को पकड़ लेते हैं बचा लेते हैं नहीं तो मैं तो बोला हूँ लोग हाथा जोड़ी करते हैं लोग तड़प रहे हैं तो मैं बोलता हूँ अच्छा पासपोर्ट तैयार रखो ये तैयार रखो सब तैयार हो जाता है एंड मौके पे बोले नहीं जाता हूँ ऐसा भी कई बार हुआ कई बार ऐसा हुआ मैं तो फिसल जाता हूँ भगवान बचा लेते हैं अमेरिका जाने से सच्चे हृदय की प्रार्थना अगर पहुंच जाती है ना फिर अपने को बचना नहीं पड़ता भगवान बचा लेते सच्चे हृदय की पुकार एकदम उठा लेती अभी तुम तो हम इधर बैठे तो इसके पीछे भी भगवान की कृपा का हाथ हे हरि हे प्रभु अपने बल से ये माया से तरना कठिन है भगवान ने गीता में कहा देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरतया ये गुणमयी रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये गुणमयी माया दुस्तर है लेकिन जो मेरे को पुकारते हैं मेरी शरण आते हैं वो माया को तर जाते हैं जैसे मछुआरा ने चारों तरफ जाल डालता है तो बड़ी मछली छोटी मछली होशियार मछली मूर्ख मछली पकड़ा लेकिन जो मछुआरा के पैरों में ही घूमती है उसको मछुआरा कैसे पकड़े ऐसे जो भगवान की शरण आता है भगवान बोलते तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारत शरीर से जो करो वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मन से जो करो वो ईश्वर को पाने के लिए बुद्धि से जो करो वो ईश्वर को पाने के लिए तो फिर फिर सब जिम्मेदारी ईश्वर उठा लेते फिर कठिन नहीं है फिर तो मौज हो गई मौज शरीर से जो करे ईश्वर प्राप्ति में सहायक हो मन से जो सोचे ईश्वर प्राप्ति में सहायक हो बुद्धि से जो निर्णय करे ईश्वर प्राप्ति में सहायक हो ऐसा आप करो आप अपना कर्तव्य पालो ईश्वर अपना कर्तव्य पालने में देरी नहीं करते <laughs> आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि भगवान दया करो <laughs> उनका स्वभाव ही ऐसा है नारायण बापू थे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर बहुत अच्छे संत थे मेरे से बहुत ऊंचे आत्मा थे बड़े अच्छे माँ एक सौ और एक साल तक शरीर था उनका बड़ोड़ा के पास में ताजपुरा उधर रहते थे पावागढ़ और बड़ोड़ा के बीच में ताजपुरा बास्का से रास्ता जाता था तुम तो उस इलाके के हो ना तो उन्नीस में मेरा डीएसपी जो शिष्य था उसने बताया कि चौदह सौ एस वाले जेल सिंह की सेवा में रहे चार दिसंबर उन्नीस सौ चौरासी फिर वो मेरे गुफा में रहे थे तो मैं पूछा राष्ट्रपति आया आपके पास क्या बोले तो सब बातचीत हुई ज्ञानी जल सिंह उनके आशीर्वाद से राष्ट्रपति बने थे लेकिन आखिर क्या न जल सिंह का शरीर रहा न राष्ट्रपति पद रहा परमात्मा जी का हूँ उसी को पाना है जो शाश्वत है उसी से मुक्त होना है जो चला जाने वाला है मुक्त क्या होना है उसकी आसक्ति छोड़नी है उसकी सत्यता छोड़नी है दुख सच्चा नहीं है सुख भी सच्चा नहीं है लेकिन उसको जानने वाला चैतन्य प्रभु सच्चा है आनंद ओम शांति ओम आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी हरि हरि नारायण हे गोविंद हे गोविंद हृदय पूर्वक पुकारे तो फिर बचाता भी रहता है कैसा तेरे को सुना दिया तो बापू ने नहीं सुनाया सुनाने वाले के गहराई में कौन है मेरा हितेशी है इसलिए मेरे मन की बात तो अगर हितेशी कोई है दुनिया में त्रिभुवन में तो भगवान ही है और भगवान का ही कुछ कुछ गुण माता में पिता में गुरु में माँ तो गलती करेगी गुस्से में आ जाएगी बाप भी जरा ममता है कि ये संभाले बोझा भगवान को तो क्या बोझा उठवाना है माँ बाप तो बोलेंगे चलो ये बोझा संभाले हित चाहते हैं साधु बनेगा तो नहीं जाने देंगे तेरा बेटा हित चाहते हित क्या चाहते पिट्ठू बनाना चाहते उल्लू बनाते भगवान उल्लू नहीं बनने देते बुद्ध को नहीं बनने दिया उल्लू नहीं तो सर्दी का महल अलग था गर्मियों का अलग था बारिश का अलग था सिद्धार्थ के लिए तीन महल बने थे तीन ऋतुओं के और यशोधरा बड़ी सुंदरी थी राहुल बेटा जन्मा लेकिन तड़प हुई कि तुम फंसेंगे संसार चल गए तो सिद्धार्थ में से भगवान बुद्ध बन गए पूर्व के संस्कार थे हम्म। भगवान करे के भगवान में प्रीति हो भगवान करे के भगवान के सिवाय सब मिथ्या लगे हम्म। दुनिया में सुखी होने की कोशिश की बेमौत मारा जाएगा और दुनिया को सुख दिया और अंतरात्मा में सुखी आया बिना प्रयत्न तर जाएगा सुख और मान बांटो और सुख स्वरूप में शांत हो जाओ बस सुख और मान बांटो तो आपका अंदर का सुख प्रकट होगा उसमें शांत ओम आनंद ओम शांति दीर्घ प्रणवा का जप करो फिर शांत निसंकल्प अवस्था ये फल साधन ते न हो ए साधना करूं इतना करूं इतना करूं इस झंझट में नहीं पड़ो ज्यादा बस प्रीति मेरे में तड़प नहीं नहीं है तो नहीं है लेकिन हूं तो तुम्हारा गले पड़ो मेरे में जितनी तड़प चाहिए उतनी नहीं है तू तड़प दे दे अब तड़प दे फिर ये दे अरे तड़प दे न दे अभी अभी वो तड़प देवे फिर तड़प आवे फिर गुरु आवे फिर होवे अरे ऐसे ही सीधा भी हो सकता है नारायण हरि हरि ओम हरि नाम जपत मंगल दिशा दशा उसका नाम भी मंगलमय हो जाता है महाराज हम तो आपको नहीं जानते खाली मानते हैं कि आप हमारे हैं आप हमको जानते भी हैं मानते भी हैं कि हम आपके हैं इसीलिए तो हमारे लिए दूध बनाया बोलो है अच्छा काम करते तो हमारी बुद्धि में निर्भयता और बल बनाते गड़बड़ करते तो उल्टी बुद्धि करके बराबर सबक सिखाते हो तुम ही हो तुम ही हो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दी इस पेम्पलेट ने भी कई परिवार कई उजड़े बाद शाद आबाद कर दी इस पेम्पलेट कई झगड़ा मगरा घटजी मौन खोले भी मानू झगड़ो कर सब हे प्रभु आनंद आता पेम्पलेट छोटा है लेकिन काम बहुत किया ऐसे ही जोगी रहे इसने भी बहुत काम धुन मचाई ऐसे ही सत्संग जो वेबसाइट पे जाए वो भी काम कर रहे चलो जी हरिओम हरिओम ओ प्रसाद ये सत्संग है प्रसाद ले मेरे लिए